फिर जब वो उसके साथ भाग दौड़ की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा ए मेरे प्यारे बेटे मैं ख्वाब में देखता हूँ कि यकीनन मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ तो देखो तुम्हारी क्या राय है उसने कहा ए मेरे अब्बा जान जो आपको हुक्म दिया जा रहा है आप वो करें इन आप ज़रूर मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे